सन्नो मित्रः सङ्गरुणः सन्नो सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णो नमो ब्रह्मणे नमस्ते पायो त्वमेव प्रत्यक्षम् ब्रह्मासि त्वादेव ब्रह्म वदिष्यामि ऋतम् वदिष्यामि सत्यम् तन्मा तन्मामवतु तदवतारमवतु दर्शनम् सुन्दरेक्षितः इति ओ शांति शांति शांति Krishna. अनन्तोटकम् वार्तिपकारमन्याम् दशमोऽस्मि श्रुते स्मृते पुरालयम् करुणालयम् भवता शङ्करम् लोत्र शङ्करम् शङ्कराचार्यम् केशवम् बालया सूत्रभाष्य मन्दे भगवतो नमः पुनः ईश्वर गुरुरात्मेति मूर्तिदेवादिभागिने व्योमवद्यात्मदेहा तत्सत ब्रह्म मांडिकोपनिषद इसके मंगलाचरण है दो मंत्रों में क्योंकि या मंगलाचरण भद्रंग करने भी होता है या अथर्ववेद नहीं अथर्ववेदीय मांडव उपनिषद है शंकराचार्य जी ने जैसे दस उपनिषद के ऊपर भाष्य लिखा है ऋग्वेद में एक है और यजुर्वेद में दो है ये सामवेद में दो है अथर्ववेद में तीन है और यजुर्वेद में चार है मिलकर के दस हो जाते हैं ऋग्वेद में एक ऐतरीय परिषद है सामवेद में दो केन और छांदोग्य है अथर्ववेद में प्रश्न मुंडक मांडव्य ये तीन अथर्वेदी है जिन जिन में भाष्य है शंकराचार्य जी का और यजुर्वेद में शुक्ल कृष्ण वेद से चार है ईशावास उपनिषद उपनिषद तैतरीय उपनिषद वृद्धारण चार तो इनमें मांडव्य उपनिषद की चर्चा करने हम लोग जा रहे हैं तो मांडुक्य शब्द बनता है मंडू का शब्द से मंडुक ऋषि का नाम है उनके द्वारा इन मंत्रों को देखा है इसलिए मांडुक के नाम पड़ा है मांडुके न दृष्टम मांडुक्य मांडुक्य है मंडुक शब्द का एक विशेष अर्थ होता है मेढक मेढक जो होता है दस महीने तक चुपचाप रहता है दो महीना ही बोलता है बरसात के दो महीना मेढक बोलता है बाकी दिन में चुप रहता है वैसे ही उपनिषद थोड़े मंत्रों में बोलने वाले हैं इसका कलेवर जितने भी भाष्यकार भाष्य लिखा है सबसे छोटा कलेवर है तो मांडवी उपनिषद का केवल द्वादश मंत्र है ये तो इतने भारी पुस्तक आपको देख रही है इसका कारण यह पुस्तक देने का मतलब कार्य का है इसमें शंकराचार्य जी के जो दादा गुरु जी थे गौड़पादाचार्य जी उन्होंने इसका विशेष रूप से श्लोकबद्ध करके इसका अर्थ बताया जिसमें चार भाग है मांडू की कारिका में चार भाग है कि आगम प्रकरण वैतथ्य प्रकरण अद्वैत प्रकरण और अलाप शांति प्रकरण करके नाम है आगम प्रकरण मान स्तुति का अर्थ करना जितना है उतना अर्थ करना यह आगम प्रकरण है प्रथम मंत्र से लेकर ष्ठ मंत्र तक के एक साथ कायिकाएं हैं जिसमें जागृत स्वप्न सुश्रुति तक की चर्चा हो जाती है प्रथम मंत्र से ष्ठ मंत्र तक के कायिकाएं एक साथ होंगे छह मंत्र तक भाष्य आदि पढ़ने के पश्चात वो आएंगे बार एक कार्य के आएंगे मांडवी कार्य का सप्तम मंत्र का स्वतंत्र है नान्त प्रद्युम्न बहिष् प्रद्युमादि मंत्र है सप्तम मंत्र जो विशेष है अद्वैत का पोषक उस मंत्र का स्वतंत्र कार्य है और अष्टम मंत्र से लेकर के एकादश मंत्र तक एक का है ये पांच मंत्र का एक का है चार लोगों का एक साथ कारिका है और द्वादश मंत्र का स्वतंत्र कारिका है आगम प्रगत में कारिकाएं चार भाग में विभक्त करके बनाया गया है तो वह तो श्रुति के आधार पर ही है तो ये मांडू के कार्य का लिखने का गौड़पादाचार्य को कहां से मिला तो शांतम शिवम अद्वैतम ऐसा सप्तम मंत्र में ये तुरीय आत्मा की चर्चा के विषय में सप्तम मंत्र है उसमें शांतम शिवम अद्वैतम अद्वैतम शब्द आया हुआ है शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मनते सात्मा सविज्ञेय ऐसा मंत्र है क्योंकि समस्त वेद मंत्रों में विशेष मंत्र होगा जैसे सप्तम मंत्र ऐसा मंत्र है जो अद्वैत आत्मा की पुष्टि करने के लिए बताने के लिए इतर निषेध के द्वारा है तो उसमें अद्वैत पद आया हुआ है तो अद्वैत को सिद्ध करने के लिए पहले द्वैत मिथ्या सिद्ध किए बिना अद्वैत की सिद्धि करना मुश्किल है श्रुति ने कहा है जो श्रुति के अनुयायी बन के चलते हैं तो मान जाएंगे किंतु जो श्रुति के अनुयायी नहीं है उनको भी मनाना है इस सिद्धांत को उन्हें वहां तक पहुंचाने का विचार है इसलिए जो शिवम शांतम अद्वैतम है उस कारिका को उस मंत्र के अद्वैत पद की सिद्धि के लिए द्वैत मिथ्या करना सिद्ध करना जरूरी है युक्ति से इसलिए वैतथ्य प्रकरण का आविष्कार करते हैं द्वितीय प्रकरण पांडु के कार्य का द्वितीय प्रकरण वैतथ्य प्रकरण है वहां पर ऐसे ऐसे कारिका आएंगे आदौ बनते जो नास्ती वर्तमान तथा वितथा ही सदृशा संतो विदथा इव लक्ष्य ऐसा शब्द बोलेंगे जो वस्तु उत्पत्ति के पहले नहीं है नाश के पश्चात भी नहीं रहेगा आदव अंत्य चैन नाश्ती जो शुरू में भी नहीं है आखिर भी नहीं है संसार के सारे वस्तु ऐसे ही है चाहे हमारा शरीर लें चाहे ये मकान आदि लें चाहे वृक्ष आदि लें उत्पत्ति के पूर्व में नहीं है और नाश के बाद भी नहीं है बीच में दिखते हैं थोड़ी समय के लिए बीच में दिखाई पड़ते हैं सारे वस्तु का स्वभाव वैसे आदो अंत्य जन्नास्ती वर्तमान भी तद वस्तु तथा वैसा ही है नहीं है जैसे रज्जु आदि सर्प आदि का दृष्टांत है स्वप्न पदार्थ का दृष्टांत है विशेष कर देंगे द्वैत मिथ्या सिद्ध करने के लिए तो जैसे रज्जु में सर्प दिखता है पहले सर्प अज्ञान के कारण दिखता है दिखने के पहले नहीं था रज्जु रूप ज्ञान होने के बाद भी नहीं रहेगा उसको कहेंगे बीतथा विरुद्ध तथा बीतथा जैसा दिखता है वैसा नहीं है बीतथाया भाव वैतथ्यम जो बीतथा में रहने वाले धर्म को वैतथ्य बोलते हैं जगत वैतथ्य है ये याद वैतथ्य प्रकरण का तात्पर्य है आदौ बनते जन्नास्ती वर्तमान की तत्था जो शुरू में न हो आखिर में न हो बीच में होता हो वो बीच में भी नहीं होता हो विचार करने पर नहीं होता पिथता ही सदृशा संत ये रज्जु सर्प के समान स्वप्न के पदार्थ के समान है ये व्यावहारिक जगत भी ऐसा ही है स्वप्न में और व्यावहारिक जगत में कोई ज्यादा अंतर नहीं है ये दो काल वाले हैं वो एक काल वाले हैं इतने अंतर करेंगे यहां देखने पर अभी स्वप्न के वस्तु गायब है इस समय में जागृत व्यवहार चल रहा है तो स्वप्न अवस्था में जाने पर यह भी लुप्त हो जाता बराबर है उस काल में इसका अभाव है इस काल में उसका अभाव है ये तथा एक सदृशा संतः स्वप्नीय पदार्थ के समान होते हुए वितथा पदार्थ के समान होती है अभी तथा युव लक्ष्य थे इतना भेद है कि इस सत्य जैसा होकर के दिख रहा है हाँ, तो उसी के समान है स्वप्न के पदार्थ के समान भी हो है ये जागृत जगत भी किंतु सत्य प्रतीत हो रहा है तो ये इसको जैसा दिखा वैसा नहीं है ऐसा सिद्ध करने का नाम वैतथ्य ये द्वितीय प्रकरण पैतथ्य प्रकरण होता है स्वप्न का दृष्टांत दे करके पहले स्वप्न को मिथ्या घोषित करेंगे क्योंकि जिसको दृष्टांत बनाना है वो मिथ्या सिद्ध हो जाए कोई बोलेगा स्वप्न भी सत्य है तो उसके लिए पहले स्वप्न को मिथ्या घोषित कराएंगे युक्ति लगा करके द्वितीय प्रकरण उसके बाद जैसा स्वप्न है वैसे जागृत है ये दिखा करके इसको भी मिथ्या सिद्ध करेंगे तृतीय प्रकरण में अद्वैतम करके यद्यपि सप्तम प्रकरण में सप्तम मंत्र में अद्वैत की सिद्धि है श्रुति में है फिर भी युक्ति से भी अद्वैत की सिद्धि की जा सकती है खाली श्रुति के विश्वास मात्र नहीं श्रुति में तो है ही है हम वेद को मानने वाले वेद के अनुयायी हैं श्रुत भगवती के बाप को हम इधर उधर नहीं टालते हैं मानते हैं सत्य मानकर चलते हैं फिर भी तार्किकों के लिए कहते हैं हम युक्ति से भी सिद्ध कर सकते हैं मैंने तार्किकों का कहना है श्रुति ने कहा है किंतु युक्ति से अद्वैत सिद्ध होने वाले नहीं है इसको कैसे बात करेंगे जगत को द्वैत को कैसे बात करेंगे ऐसे तार्किकों का कथन होगा तो वहां पर अद्वैत की सिद्धि युक्ति से भी करेंगे तृतीय प्रकरण में इसलिए अद्वैत प्रकरण कहला है तृतीय प्रकरण अद्वैत प्रकरण होगा चतुर्थ प्रकरण अलाप शांति प्रकरण तत्त वादियों के मत का खंडन करेंगे पहले चतुर्थ प्रकरण उसके पश्चात आखिर में विशेषकर बौद्धों के साथ होगा शास्त्रार्थ होगा युक्ति चलेगी आखिर में एक अलाप का दृष्टांत देंगे जगत जैसा है एक अलाप जैसा है अलाप माने जलती हुई जो लकड़ी होगी उसको जब घुमाते हैं हम घुमाएंगे तो एक गोलाकार दिखाई पड़ेगा गोलाई दिखाई देगा ज्वाला की गोला माने जो अग्नि की एक गोलाई दिखाई देगा उसी को कहते हैं अलाप जलती हुई लकड़ी को जो घुमाते हैं उसको अलाप बोलते हैं वो जो लकड़ी तो ठीक है व्यावहारिक सत्य है वहां अग्नि ठीक है किंतु जो चक्राकार बनना वो न होते हुए वासना है ये जगत ऐसा ही है दिखता है किंतु मिलता नहीं है जैसे वहां चक्राकार जो घूमना है जो काष्ठ के इधर उधर होने के कारण से दिखाई दे रहा है चक्राकार नहीं है न होते हुए इतना वैसे जगत भी ऐसा नहीं हमें प्रतीत होता है किंतु बाद हो जाता है विचार से देखें तो वह अग्नि ही है जो घूमने के गुलाई में देखने वाले अग्नि होती है अलाप में ठीक इस प्रकार जगत भी ऐसा ही है माने वहां जो चक्र का जो अधिष्ठान है क्या है गोलाई का अधिष्ठान अग्नि है ठीक इसी प्रकार इस जगत का स्थान आत्मा है ब्रह्म है ये सिद्ध करेंगे अलाप शांति प्रकरण में चार प्रकरण गौड़पादाचार्य जी ने इसमें बनाया है इसको लेकर के मांडू के परिषद सर्वप्रिय हो रखा है कारिकाओं को लेकर के मांडू के कारिका करके प्रसिद्ध है मंत्र तो बारह मंत्र हैं वो भी छोटे छोटे मंत्र हैं किंतु कारिका विशेष है इस अद्वैत की सिद्धि के लिए उन्होंने कहा शंकराचार्य जी को जो अद्वैतवाद का उद्भव हुआ होगा जहां तक गौड़पाद कार्य का पढ़ने पर ही हुआ होगा ऐसा लगता है उनके दादा गुरु जी से प्राप्त है गौड़पाद गौड़पादाचार्य हुए तो उनके शिष्य हुए भगवतपाद गोविंद भगवत गोविंद पाद उसके उनके शिष्य शंकराचार्य गौड़पादाचार्य ऐसा है चतुर्थ प्रकरण में जाकर के एक शंकाएं कर जाते हैं ये गौरपादाचार्य छिपा हुआ बौद्ध है ऐसी शंका आती है प्रच्छन्न बौद्ध बातें करते हैं अलग जैसे किन्तु बौद्ध मत के विज्ञानवादी की बात करते हैं विज्ञानवादी बौद्धों के साथ एक हो जाते हैं विज्ञान की बात करते हैं प्रच्छन्न बौद्ध ढका हुआ बौद्ध जासूस ऐसा कोई कर सकता है उसके लिए कहा है उन्होंने नैतक बुद्धि न भाषितम हमने जो यहाँ जो जिस ज्ञान को हमने बताया एक अखंड ज्ञान उनका तो प्रतिक्षण बदलने वाला ज्ञान है प्रतिक्षण ध्वंस ध्वंस होने वाला विज्ञान है उनका किंतु हमारा विज्ञान ऐसा नहीं अनादि अनंत विज्ञान है नहीं तक बुद्धि नभाषितम ऐसे कार्य का लिखेंगे ऐसे विज्ञान को बुद्ध ने नहीं कहा जिस विज्ञान के बारे में हम कह रहे हैं हम नित्य विज्ञान को मानते हैं वो क्षणिक विज्ञान को मानते हैं बुद्ध लोग विज्ञान विज्ञान एक है किंतु क्षणिक मानते हैं ऐसा करके चतुर्थ प्रकरण में होगा पहले शुरू में तो श्रुति के माध्यम से चलेंगे उसके बाद में फिर वैतथ्य प्रकरण आदि बहुत रोचक ढंग से होंगे युक्ति प्रधान है सब में ऐसा दिखाएंगे तो सबसे पहले इस उपनिषद का जो शांति मंत्र हैं हम दोनों सभी मिल करके पाठ करें आगे फिर विचार करें ॐ भद्रम् कर्णेभिः श्रृणुयाम देवाः भद्रम् पश्येमाक्षवीरः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनोभिर्दशेमदेवहितम् जलायु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्तवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्षो अरिष्टमे स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति हे देवा संबोधन है हे देवा हे देवता लोग कर्णे भी भद्रम श्रृणियाम वयम करने भी भद्रम श्रृणियाम हम लोग अपने कानों से अच्छे शब्दों को सुने जो तो आत्मान आत्म संबंधी शब्द हैं अच्छे शब्द हम ऐसा शब्द सुने हे देवा ऐसा ये जो करणे भी में तृतीया है तृतीया का बहुत कर्ण ही होना चाहिए किंतु छंद कोई नियम नहीं होता छंद ही बहुलम नहीं तो राम ही जैसा होता है कर्ण ही होना चाहिए कर्णे भी बोला हुआ है तो हम अपने कानों से अच्छे शब्द सुने और भद्रम पश्चिम यह यजत्रा यजत्रा भयम भयम यजत्रा हम यज्ञ करने वाले लोग कोई ज्ञान यज्ञ कर रहा है कोई दूसरा यज्ञ कर रहा है सभी यज्ञ करने वाले लोग हैं भयम यजत्रा अक्षभीर आंखों से यहां भी अक्षभी की जगह में अक्षभी बना रखा है आंखों के द्वारा भद्रम पश्चिम अच्छे देखें बुरा न देखें कानों से भी अच्छे सुने आंखों से भी अच्छे देखें स्थिर अंग स्तुष्टमांसम हम कैसे हैं स्थिर अंगों के द्वारा हमारे अवय सब पुष्ट हो तभी हम कुछ काम कर सकते देवताओं की स्तुति आदि कर सकते हैं यज्ञ आदि कर सकते हैं स्थिर अंग हमारे प्रत्येक शरीर के अंग स्थिर हो मजबूत हो उसके द्वारा तुष्टवांश तुष्टवांशस्तनु भी ऐसे स्तुति करते तनु भी स्थिर अंग तनु भी तुष्टवांश स्थिर अंग प्रत्येक अवय पुष्ट हो ऐसे अंग वाले शरीर के द्वारा जो स्तुति करने वाले हम लोग हैं देवहितम यद आयु देवहितम यश जो हमारी आयु जितने भी विधाता ने लिख दिया है पूरी आयु देवताओं के हित के लिए हम व्यतीत करें अन्य कार्यों में न लगे पूर्ण रूप से देवताओं के हित के लिए हमारी आयु हो ऐसा कहा दूसरे मंत्र में कहते हैं स्वस्ति न इंद्रो वृद्ध श्रवा वृद्ध श्रवो यश्य सब वृद्ध स्रवाह श्रवस शब्द है श्रव मानी कीर्ति जिसकी कीर्ति बड़ी हुई है फैली हुई संसार में ऐसे जो इंद्र हैं वो हमारे लिए कल्याण करे महा अस्मभ्यम के जगह में न बना रखा है हमारे लिए कल्याण करे इंद्र इंद्र का अर्थ देवराज इंद्र भी हो सकते हैं परमात्मा भी हो सकते हैं जिसकी कीर्ति संसार में फैली हुई वृद्ध श्रवो यश्य स वृद्ध श्रवाह श्रवस शब्द है सर्वस माने कीर्ति जैसे बाज सर्वस शब्द आता है कठोर परिषद में वैसे यहाँ सर्वस सकारांत शब्द है यह प्रथमा है अत्व संत से ज्यादा तो सूत्र से उगदा दीर्घ होकर के वृत सर्वाह बना है स्वस्ति ना इंद्रो वृत्त न माने अस्मभ्यम बहुवचन से बस नसौ है हमारे लिए वृद्ध सर्वा इंद्रो स्वस्ति ही जिसकी कीर्ति फैली हुई संसार में ऐसा जो इंद्र है वो हमारे लिए कल्याण करे स्वस्ति न पुरुषा विश्ववेदा विश्ववेदा पुषा जो संपूर्ण सर्व जगत को जानने वाले पुषादेव हैं सूर्यदेव पुषादेव पुष्णातीति पुषा सूर्य संपूर्ण जगत को जानते हैं सर्ववेद हैं वो सर्ववेदा पुषा जो संपूर्ण जगत को जानने वाले पुषादेव हैं न स्वस्ति माने अस्पदम स्वस्ति हमारे लिए कल्याण करें स्वस्ति न स्तार्क्ष्यो अरिष्ट नहीं तार्क्ष गरुड़ तो गरुड़ है तार्क्ष गरुड़ अरिष्ट नेमी माने नेमी होता है चक्र के धार को नेमी बोलते चक्र के धार के समान अरिष्टों को नाश करने में अरिष्ट माने विघ्नों को नाश करना है उसके लिए इतने तीक्ष्ण है गरुड़ जी उनके स्मरण से जितने भी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती है जैसे चक्र आएगा तो संपूर्ण नष्ट कर देगा अरिष्टों को नाश करने में नेमी के समान है चक्र के धार के समान है ऐसे जो तार्क्ष है न स्वस्ति हम लोगों के लिए कल्याण करे स्वस्ति न बृहस्पति ग्रहा तो देवगुरु जो बृहस्पति हैं वो भी हमें स्वस्ति करें कल्याण करें कि हम प्रार्थना करते हैं कोई विघ्न बाधा है न हो इसके लिए प्रार्थनाएं करते हैं मंगलाचरण करते हैं मंगलाचरण तीन प्रकार के होते हैं ये तो स्तुति का ही है आगे भाष्य में विचार करेंगे एक तो होता है नमस्कारात्मक मंगलाचरण होता है और एक होता है आशीर्वादात्मक नमस्कार मंगलाचरण होता है और एक वस्तु निर्देशात्मक होता है यह आशीर्वादात्मक वादात्मक मंगलाचरण है हम प्रार्थना कर रहे हैं आशीर्वाद मांग रहे हैं हमारा कल्याण करें ये नमस्कारात्मक नहीं है नमः शब्द नहीं है वस्तु निर्देशात्मक भी है इस ग्रंथ का प्रतिपाद्य तो वस्तु की भी चर्चा नहीं इसमें यह है आशीर्वादात्मक जैसे भूयात आदि आता है वैसे यहां भी स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति कहा अव्यय स्वस्ति ये तो हो गया ओम शांति शांति शांति करके तीन बार कहा जाता है तीन प्रकार के कष्ट से परेशान होने की समस्याएं आने की संभावना है माने आध्यात्मिक कष्ट आदि भौतिक कष्ट आदि दैविक कष्ट वो तीनों प्रकार के कष्ट का निवारण हो तीनों प्रकार के कष्ट न हो जिससे हम आगे एक ग्रंथ के समापन कर सके यहाँ यही है गुरु शिष्य दो होते हैं अध्यापन और अध्ययन में तो दोनों की प्रार्थना होती है जिस ग्रंथ को हम आरंभ करने जा रहे हैं वो समाप्ति तक हम ठीक ठाक रहें तीनों प्रकार के कष्ट बाधाएं न हो शारीरिक कष्ट से बाधा हो जाती है उसके लिए एक बार शांति कहा आध्यात्मिक उपद्रव जो होते हैं शरीर संबंधी उपद्रव रोग हो गया इत्यादि परेशानी दूसरा दूसरे व्यक्ति से होने वाली परेशानी अपने मित्र की जो अवनति हो जाती है तो हमें परेशानी हो जाती है और शत्रु की उन्नति हो जाती है तो तब भी परेशानी होती है ये आदि भौतिक ताप कहते हैं दूसरे से संबंध से आने वाले ताप कष्ट है कष्ट हमारे मन में होगा फिर भी हम लक्ष्य से बाहर हो जाएंगे दूसरे व्यक्ति परेशान होने से हम परेशान हो जाते हैं माने मित्र के अवनति जो हो रही हो तो हमें परेशान हो जाती है और शत्रु की उन्नति हो तभी तो परेशानी होती है ये कष्ट भी न हो इसके लिए शांति कहा दूसरी बार तीसरी बार आदिदेवी कष्ट आ जाता है पत्रव आ जाता है जैसे भूकंप आदि होना होता है एकाएक घटनाएं घट जाती है वो भी न हो इसके लिए तीन बार कहा आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक तीन प्रकार के ताप की संभावना है कष्ट की संभावना है वो कष्ट न हो इसके लिए तीन बार शांति ही शांति ही शांति हमारे यहाँ जब भी बोलेंगे तो तीन बार बोलते हैं शांति ही शांति ही शांति इसका अभिप्राय यही होता है तीनों प्रकारों के कष्ट हमारे जीवन में न हो तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे यहाँ लक्ष्य क्या है ग्रंथ की समाप्ति जो ग्रंथ आरंभ करने जा रहे हैं उसकी समाप्ति तक यही लक्ष्य होता है यहाँ तो समाप्ति काम हो मंगलम आचरित ऐसा बोलते हैं समाप्ति चाहने वाला क्या करे मंगलाचरण करे यहां तो श्रुति का ही मंगलाचरण है टीकाकार मंगलाचरण करते हैं इसमें आनंदगिरी जी की टीका है जहां जहां शंकराचार्य जी का लेख है वहां वहां आनंदगिरी जी ने छोड़ा नहीं है आनंदगिरी जी ऐसे एक शिष्य हुए शंकराचार्य जी के जहां जहां उनका लेख होगा यहां पर आनंदगिरी जी के टीका दोनों में दिखाई पड़ेंगे भाष्य के ऊपर भी दिखाई पड़ेंगे वार्तिक के ऊपर भी दिखाई पड़ेंगे भारतीय में भाष्य है उसके ऊपर भी है और मंत्र के ऊपर भी भाष्य है उसके ऊपर भी है तो टीकाकार मंगलाचरण करते हैं पहले परिपूर्ण परिज्ञान परितृप्ति मते सते विष्टवे जिष्णवे तस्मयी कृष्ण नाम धृते नम शुद्धानंद पदाम्भोज द्वंद्वम अद्वंततास्पदम नमस्पूर्वे पुरस्कर्तुम तत्वज्ञान महोदय गौड़पादीय भाष्यम ही प्रसन्नम इव लक्ष्यते तदर्थतोति गंभीरम व्याकरिशेष शक्ति पूर्वे यद्यपि विद्वांसो व्याख्यानम इह चक्रिरे तथापि मंदबुद्धीनाम उपकाराय यत्यते चार श्लोक के द्वारा आमगिरी जी मंगलाचरण करते हैं पहले परमात्मा के लिए नमस्कार करते हैं उसके बाद अपने गुरुदेव के लिए नमस्कार करते हैं उसके बाद इस ग्रंथ के जो विषय है उसको दिखाते हैं इत्यादि परिपूर्ण परिज्ञान परितृप्ति मते सते परिपूर्ण परिज्ञान वाले हाँ, परिपूर्ण परिज्ञान परिपूर्ण ज्ञान वाले जो परमात्मा है सते परमात्मा ने सत शब्द का चतुर्थी सते परिपूर्ण परिज्ञान परितृप्ति मते परितृप्तिमान कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं जिसकी जिसको कोई वस्तु की जरूरत नहीं है आप तो काम है परितृप्ति मते परिपूर्ण तृप्ति वाले परितृप्ति तृप्तिमत शब्द है चतुर्थी हो ऐसे जो सत परमात्मा है जिनका नाम विष्णवे जिष्णु विष्णु कहते हैं जिष्णु बोलते हैं जिनको ऐसा बोलते हैं विष्णवे जिष्णवे परितृप्ति मते सते जिष्णवे जिष्णवे सब समान है विशेषण ऐसा है जिसका नाम है विष्णु करके कहा जाता है जिष्णु कहा जाता है सबको जीतने वाले को जिष्णु बोलते हैं जी जय धातु तस्मयी ऐसे जो सतनाम है परितृप्तिमान है विष्णु है जिष्णु है उस परमात्मा के लिए कृष्ण नाम धृते नाम जिसका नाम कृष्ण नाम रखा है जिनका नाम रखा है कृष्ण नाम रखा है कर्षयति जीवान इति कृष्ण जीव को अपनी तरफ खींचने वाले को कृष्ण बोलते हैं यद्यपि भक्तों ने कृष्ण शब्द का एक संकीर्ण अर्थ कर दिया है किंतु ऐसा नहीं है प्राणी मात्र को जो अपने तरफ खींचने वाला होता है वही कृष्ण होता है मुख्य कृष्ण मुख्य कृष्ण संपूर्ण प्राणी को प्यारा क्या है अपने अपने आत्मा ही प्यारा है कोई कृष्ण होता है मुख्य कृष्ण अध्यात्म में स्वरूपी होता है किंतु भक्तों ने थोड़ा संकीर्ण कर दिया है एक बंसूरी बंसूरी वाले को ही कृष्णा करके मानते हैं अपने लिए भावना है तो कृष्ण नाम वृते विष्णवे जिष्णु तस्मय विष्णवे जिष्णवे नम ऐसे विष्णु जो जगत को संपूर्ण जगत का जी विजेता है उनके लिए मैं नमस्कार करता हूं करके आनंदगिरी जी कहते हैं परमात्मा के लिए नमस्कार है इस मंत्र को दूसरे मंत्र में अपने गुरुदेव के लिए नमस्कार करते हैं गिरी जी शंकराचार्य जी के साक्षात शिष्य में नहीं है परंपरा में शिष्य में है हम सभी शंकराचार्य जी के शिष्य हैं अनुयायी हैं किंतु हम परंपरागत हैं उनके गुरु जी थे शुद्धानंद इसलिए लिखते हैं शुद्धानंद पराम भोज द्वंदम अद्भुतास्पदम नमस्कुर्वे पुरस्कृत तत्व ज्ञान बहुत दयम शुद्धानंद पदांग हो जाए शुद्धानंद गुरु जी का नाम है शुद्धानंद के चरण कमल रूपी जो द्वंद है जोड़ा है पदाम भोज अम्भोज माने कमल कमल होता है शुद्धान शुद्धानंद पदाम भोज शुद्धानंद के जो दो चरण है ना पदाम भोज द्वंद्व जोड़ा है दो पैर है किंतु अद्वंतदास्पदम अद्वैत को आश्रय देने वाला पद है लेने वाला पद है देखने में दो लगते हैं किंतु अद्वैत का आश्रय लेने वाला है अद्वंत कास्पदम आस्पदम को आस्पद है स्थान है ऐसा जो द्वंद्व चरण है तत्वज्ञान महोदय गुरु ऐसा होगा जो गुरु जी कैसे हमारे तत्वज्ञान के महोदय हैं तत्वज्ञान महोदय नमस् पुरस्कर्तुम नमस्कृत तत्वज्ञान महोदय पुरस्कर्तुम तत्व ज्ञान महोदय को सामने करने के लिए मेरे सामने तत्व ज्ञान स्फुरित हो जाए इसके लिए द्वंदम अं, अद्वंततास्पदम नमस्कार मैं नमस्कार करता हूँ चरण कमलों को नमस्कार करता हूँ गुरु जी के चरण कमल है जो जोड़ा लगते हैं द्वंद दो लगते हैं किंतु है अद्वैत ऐसा अद्वैत को आश्रय लेने वाले चरण कमल है ऐसे चरण कमल को मैं नमस्कार करता हूँ क्यों करता हूँ तत्व ज्ञान महोदय पुरस्कार जो तत्व ज्ञान के उदय महान उदय के लिए उदय को लेकर मैं सामने करने के लिए नमस्कार करता हूं मेरे सामने तत्व ज्ञान स्फूरित हो जाए मैं लिखता जा सकूं अपने अनुभव उतार सकूं इसके लिए नमस्कार करता हूं गुरु जी के लिए नमस्कार मिला आगे कहते हैं इस ग्रंथ के जो प्रतिपाद्य विषय दिखाना चाहते हैं कुछ तत्व गौड़पादीय भाष्यम ही प्रसन्न इव लक्ष्य थे गौड़पादीय जो भाष्य माने यहां कारिका गौड़पाद जी का भाष्य करता कारिका है इसमें चार प्रकरण है आगम प्रकरण वैतथ्य प्रकरण अद्वैत प्रकरण अलाप शांति प्रकरण यह भाष्य करते व्याख्या जिसको मांडू की कारिका करके बोलते हैं क्यों शंकराचार्य के भाष्य तो गद्य में है किंतु उनका भाष्य पद्य में है गौड़पाद आचार्य जी का भाष्य पद्य में श्लोक बद्ध है गौड़पादीय भाष्य में गौड़पाद संबंधी जो भाष्य है माने मांडू की कारिका जिसको बोलते हैं भाष्यम ही प्रसन्नम इवलक्षक है बहुत स्वच्छ लगता है प्रसन्न मन स्वच्छ होता है अति स्वच्छ लक्षित होता है किंतु तदर्थतो दिगंभीरम माने कार्य का पढ़ते समय में अच्छा लगता है किंतु उसके अर्थ अति गंभीर है उसका अर्थ समझना बड़ा मुश्किल है तदर्थ तो उसका जो अर्थ है अर्थ से अति गंभीर है माने कार्य का सरल है किंतु अर्थ कठिन है शब्द तो अच्छा लगता है किंतु अर्थ कठिन है तदर्थ तो तस्य अर्थ तदर्थ उसके भाष्य का जो अर्थ है कारिका का अर्थ है अति गंभीर अति गंभीर है जैसे समुद्र का पता लगाना मुश्किल होता है कितना नीचे गहरा होता है वैसे यह अर्थ है इतना गहरा है बहुत सुलझे हुए कोई बुद्धिमान व्यक्ति ही इसके कारिका के अर्थ समझ पाएगा सुलझा हुआ बुद्धि वाला कोई होगा अति गंभीर व्याकर इससे स्वशक्तिता अति गंभीर अर्थ है उसका उस कारिका का स्वशक्तिता व्याकरिश व्याकर व्याकरिश अपने शक्ति के आधार पर मैं व्याख्या करूंगा क्योंकि अपनी शक्ति से आगे कोई चल नहीं सकता अपने जितनी बुद्धि में सामर्थ्य है उसके आधार पर मैं व्याख्या करूंगा ऐसा बोलते हैं पूर्वे यद्यपि विद्वांसो व्याख्यान यह चक्रिदे तथा भी मंदबुद्धि नाम उपकार थे कहते यद्यपि इस कारिका के ऊपर पूर्व के विद्वानों ने बहुत सारे व्याख्या लिखी हुई है मेरे से पहले बड़े बड़े विद्वान हुए हैं पूर्व यद्यपि पूर्वी सह पूर्वकालीन जो विद्वान है उन्होंने व्याख्यान यह चक्र यह भाष्य इस भाष्य में माने भाष्य माने कारिका इस गौड़पादीय कारिका में बहुत व्याख्यान चक्र किया है व्याख्यान लिखा है किया है चक्रे चक्राते चक्र रे व्याख्यान किया है पूर्व के विद्वानों ने किया है व्याख्यान तथापि मंद बुद्धि नाम उपकार है फिर भी मुझे लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी उन्होंने जो है ना प्रौढ़ बुद्धि वालों के लिखी है पहले विद्वानों ने उत्तम बुद्धि वाले जो होंगे उनकी लिखी है सूक्ष्म बुद्धि वालों के मैं लिखना चाह रहा हूं एक व्याख्या टीका लिखने जा रहा हूं मंद बुद्धि नाम उपकार है जो मंद बुद्धि वाले हैं उनके उपकार हो मैं सरल ढंग से लिखूंगा तो जिससे कि उनके लिए उपकार हो जाए उपकार यत्यते मया यत्यते मेरे द्वारा प्रयत्न किया जाता है कर्मणि प्रयोग यत्यते यतति यद्यपि कर्तरी भी यतति होगा और इधर यद्यति मंदबुद्धि नाम उपकार आए यद्यपि पूर्व के विद्वानों ने इसमें बहुत सारी टीका लिखी है कारिका के ऊपर फिर भी मैं मंदबुद्धि वालों को लेकर के अपनी शक्ति के आधार पर टीका लिखता हूं ऐसा करके प्रतिशत आगे भाष्य में कहते हैं एक टीका श्री गौड़पादाचार्य से नारायण प्रसाद प्रतिपन्ना मांडिकोपनिषद अर्थ आविष्करणपरान अपनी श्लोकान आचार्य प्रणीतान व्याचिख्यासुर भगवान भाष्यकार चिकित्सित भाष्य अभिघ्न परिसमाप्त्यादि सिद्धये परदेवता तत्वानुस्मरण पूर्वक तन्नमस्कार रूपम मंगलाचरण शिष्टाचार प्रमाणक मुखतः समाचरण अर्थात अपेक्षितम अभिधेय आदि अनुबंधम अपनी सूचयती ये टीकाकार बोलते हैं श्री गौरपादाचार्य से नारायण प्रसाद भगवान नारायण की कृपा से गौर गौर जो गौरपादाचार्य हैं उनको जो प्राप्त हुए हैं अंतकरण में स्फूरित हुए जो अर्थ प्राप्त हुआ है श्री गौरपादाचार्य से गौरपादाचार्य को नारायण प्रसाद और भगवान नारायण की कृपा से भगवान की कृपा से प्रतिपन्न प्राप्त हुए मांडविकोपनिषद अर्थ आविष्करण पराम मांडविकोपनिषद के अर्थ के आविष्कार के लिए उद्यत हैं भारती के जितने भी हैं मांडविकोपनिषद जो बारह मंत्र में है उसी के आविष्कार करना इन कारिकाओं का कर्तव्य बनता है भगवान नारायण की कृपा से उनको प्राप्त है आविष्करण पराम अभी श्लोकान ऐसा श्लोक माने ये श्लोक कारिका है इनको आचार्य प्रणीता ये आचार्य तो कोई प्रणीत जो श्लोक है आचार्य प्रणीत गौरपाल आचार्य जी के प्रणीत जो श्लोक है कारिकाएं आएंगे उनमें व्याचिख्या आचार्य गौरपाल आचार्य है यहां उनके व्याख्या करने की इच्छुक है उन श्लोकों का उन कारिकाओं का कौन भगवान भाष्यकार शंकराचार्य सुर भगवान भाष्यकार भगवान भाष्यकार मन शंकराचार्य शंकराचार्य हाँ, चिकित्सित से भाष्य से कर्तुम इष्टम चिकित्सितम करना जो इष्ट होगा उसको चिकित्सित कहा जाता है करना इष्ट क्या है भाष्य है उनको गौड़पाद कारिका के ऊपर भाष्य लिखना है भाष्य अभिग्रह परिसमाप्ति आदि सिद्धे बिना विघ्नों के समाप्ति हो जाए भाष्य समाप्त हो जाए इत्यादि सिद्धि के लिए परदेवता तत्वानुस्मरण पूर्वकम भाष्यकार मंगलाचरण करेंगे परदेवता के तत्व का स्वरूप का स्मरण करेंगे प्रज्ञानाम सुप्रदान इत्यादि मंत्रों के द्वारा श्लोकों के द्वारा भाष्यकार मंगलाचरण करेंगे परदेवता तत्वानुस्मरण पूर्वकम परदेवता परमात्मा उनके तत्व मान स्वरूप उनका अनुस्मरण पूर्वक क्यों प्रज्ञा नाम से प्रधान है स्थिरचर निगर व्यापी फिर व्याप्य लोकान इत्यादि यहां मंत्र में बोलने वाले हैं श्लोक में बोलने वाले हैं परदेवता तत्व परदेवता का जो स्वरूप है अनुस्मरण पूर्व चिंतन पूर्वक तत्र तन नमस्कार रूपम उसको उस परदेवता को नमस्कार स्वरूप ब्रह्म यत्न न तो उसमें करके बोलेंगे जो ऐसा ब्रह्म है उसको मैं नमस्कार करता हूं तन नमस्कार रूपम मंगलाचरण तत् माने उस परदेवता तत्वांश परदेवता है उसको नमस्कार स्वरूप परदेवता नमस्कार कैसे करेंगे ब्रह्म यत्न न तो उसमें चतुर्थपाद के अंत में बोलेंगे मंगलाचरण मंगलाचरण जो है शिष्टाचार प्रमाण मंगलाचरण जो शिष्टाचार प्रमाण है शिष्ट पुरुष जो जो ग्रंथ कोई भी लेख उठाते थे तो पहले मंगलाचरण करते हैं शिष्ट पुरुष होंगे शिष्टाचार प्रमाण है कोई शास्त्र में ऐसा कहा तो नहीं है किंतु शिष्ट पुरुष प्रमाण है शिष्टाचार पूर्वकम प्रमाण शिष्टाचार प्रमाण वाला जो मंगलाचरण है मुखता समाचरण सामने करते हुए माने शब्द से लिखते बोलते हुए मुखता समाचरण शब्द से कथन करते हुए आचरण करते हुए अर्थात अपेक्षितम अभिधेयादि अनुबंधम अभी सूचेंगे जब अर्थ से अपेक्षित होता है कि जिस ग्रंथ में चार बातें न हो अनुबंध चतुष्टय जिसको बोलते हैं वो ग्रंथ पढ़ने पढ़ाने लायक नहीं होता संबंध चाधिकारी च विषय प्रयोजन बिनानुबंधम ग्रंथारो मंगलम नहीं विशिष्यते ऐसा कहा गया है कोई भी व्यक्ति किसी ग्रंथ को पढ़ना चाहता हो उसके लिए अनुकूल है कि नहीं है पहले बता देना चाहिए संबंध अधिकारी अधिकारी इसका अधिकारी कौन होगा प्रत्येक जितने भी लेख हैं उनके पढ़ने वाले अधिकारी अलग अलग होंगे एक ही अधिकारी नहीं होंगे उपन्यास पढ़ने वाले अधिकारी अलग हैं अध्यात्म ग्रंथ पढ़ने वाले अधिकारी अलग हैं पौराणिक ग्रंथ पढ़ने वाले अधिकारी अलग हैं भिन्न भिन्न है साइंस पढ़ने वाले अलग होंगे गणितज्ञ अलग होंगे अब यहाँ कोई गणितज्ञ गणित के विषय को सुनने के लिए आएगा तो कुछ मिलने वाला नहीं है उसके लिए अधिकार नहीं है अधिकारी नहीं है पहले बता देना चाहिए इसका अधिकारी कौन होगा और विषय क्या होगा इसका इसका प्रतिपाद्य विषय क्या होगा हर लेख का एक विषय होता है कोई ना कोई विषय लेकर ही लेख का उत्थापन होता है संबंध चाधिकारी विषय विषय प्रयोजन और प्रयोजन क्या है इसको हम पढ़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा प्रयोजन बताना होगा और ग्रंथ का और विषय का संबंध बताना होगा ये सब चार बातें पहले बोलते हैं जिसको अनुबंध चतुष्टय करके कहते हैं साधन चतुष्टय अलग है अनुबंध चतुष्टय अलग है यह अनुबंध चतुष्टय में आता है चार बातें हैं माने ग्रंथ का और विषय का साथ क्या संबंध होगा संबंध और अधिकारी कौन होगा इसको पढ़ने वाला और प्रयोजन क्या होगा संबंध से अधिकारी से विषय से प्रयोजन विषय क्या होगा प्रयोजन क्या होगा इसको पढ़ने से क्या फायदा होगा ये न होगी कुछ दिनों के बाद में ऐसा लगे कि हम तो यहां बेकार फंस गए ऐसा न हो इसलिए चारों बातों को भी संक्षेप में यहां बताएंगे ये बता रहे मंगलाचरण के ब्यास से अधिकारी संबंध विषय प्रयोजन भी कहेंगे ये कह रहे हैं भाष्यकार बताएंगे बता रहे हैं टीकाकार भी कहते हैं ये कहा समाचरण अर्थात अपेक्षित अर्थ से अपेक्षित है क्या अर्थात मैंने ग्रंथ लिखने जा रहे हैं तो साधन चतुष्ट संबंध चतुष्टय बताना अनुबंध चतुष्टय बताना है उसको भी अर्थात अपेक्षितान अभिधेय आदि संबंध अभिधेय विषय होता है अभिधेय आदि से लेना है वे अधिकारी संबंध प्रयोजन इनको भी सूचित भाष्यकार सूचित करेंगे इसका भी इसका भी विषय आदि का भी सूचित करेंगे ये कहा क्या बोलेंगे तो मंत्र भाष्य का मंगलाचरण करते हैं दो श्लोक है मंगलाचरण में अध्यारोप और अपवाद के हिसाब से मंगलाचरण भाष्यकार का क्योंकि ये ग्रंथ जिस ढंग का चलना है अपवाद रूप में चलना है ये वेदांत का शिखर है ये ग्रंथ ये जो को परिषद है वेदांत का शिखर है यहां कोई कर्म की चर्चा नहीं है उपासना की चर्चा नहीं है कोई चर्चा नहीं केवल ज्ञान की चर्चा है आत्मस्वरूप की चर्चा है ऐसा है अन्य उपनिषदों में विशेषता ज्ञान की है किंतु कर्म की भी चर्चा है उपासना आदि भी है किंतु इसमें ऐसा नहीं है इसलिए यहां पहले पहले श्लोक में आरोप करेंगे क्योंकि आगे सप्तम मंत्र में जैसा आना है निषेध रूप से कहना है पहले आरोप होगा तभी तो निषेध करेंगे नान्त प्रज्ञम न बहिष प्रज्ञम न वहिता प्रज्ञम न प्रज्ञान इत्यादि मंत्र वो आत्मा का स्वरूप जो प्रतिपादन करने का समय आएगा सप्तम मंत्र में तो उसके लिए पहले अध्यारोप की आवश्यकता है आरोप हो तो निषेध प्राप्त हो सत्या निषेध है पहले प्राप्ति हो तो निषेध किया जा सकता है प्राप्त ही न हो क्या निषेध करें तो प्राप्ति दिखानी होगी आरोपित जगत की प्राप्ति उसका निषेध करेंगे सप्तम मंत्र में और जा करके ये दिखाएंगे प्रथम मंत्र आदि के द्वारा अध्यारोप किया जाएगा ओम इत अक्षरम सर्वम इत्यादि तस्व व्याख्यान इत्यादि आगे ओम अक्षर ही सब कुछ है करके सब कुछ का ग्रहण करके बोला ना आरोप करके बोला हुआ है तो पहले अध्यारोप दिखाने दिखाएंगे भाष्यकार जो परमात्मा जो ब्रह्म यत्न तो जो ब्रह्म है व्यापक और आत्मवस्तु परमात्मा है क्या करते हैं प्रज्ञान अंशु प्रदान ये श्लोक है प्रज्ञानाम सुप्रतान स्थिर चर निकर व्यापि व्याप्य लोकान भोगान पुनरपि दिशलोद्भाषितान कामजन्यान विद्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुं मायया भोजयन्नो माया सङ्ख्यम् तुरीयम् परममृतमजम् ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि प्रज्ञानां सुप्रतानै स्थिरचरनिकरव्यापि निर्व्याप्य लोकान् माया संख्यम तुरीयम परममृतमजम ब्रह्म यत्तन्नतोस्मी प्रज्ञानम ब्रह्म स्मृति है ऐतरेपनिषद में का महावाक्य है जो तो प्रज्ञान परमात्मा है अंशु प्रताम ही जैसे सूर्य के किरण को अंशु बोलते हैं अंशुमान बोलते हैं सूर्य को उसी प्रकार वो जो परमात्मा है अपने किरणों के माध्यम से मानी जीवों के माध्यम से तत्त उपाधि के माध्यम से तत्त जीव बन जाएंगे अंश प्रदान व्यापी वीर व्याप्त लोकान वो परमात्मा संपूर्ण जगत को व्याप्त करते हैं जीवों के माध्यम से कैसे स्थिर चरण का रहना स्थिर माने था, थावर वस्तु और चर माने चलने वाले वस्तु थावर जंगम जिनको बोलते हैं संपूर्ण समुदाय जितने भी निगर समुदाय होता है सबको व्यापी भी प्रज्ञान अंश प्रतान ही व्यापी भी जो अंशु के फैलावट के द्वारा जीवों के माध्यम से चर निकल व्यापी भीड़ जीव सब सर्वत्र है चर अचर संपूर्ण में जीव है तत्व जीव बने हुए हैं व्याप्त लोग परमात्मा संपूर्ण लोगों को जीवों के माध्यम से व्याप्त करते जीवों के माध्यम से व्याप्त करके परमात्मा क्या करते हैं भुक्वा भोगान थमिष्ठान उसी को यहां पर वैश्वानर नाम देंगे परमात्मा ही वैश्वानर हो जाता है तत्त उपाधि के कारण से आरोप थूल भोग को भोगता है जागृत अवस्था में स्थूल भोग भोगने वाला हो जाता है परमात्मा जीवों के माध्यम से अपने माध्यम से स्वतः नहीं तो स्वतः तो अभोक्ता है अपने अंशों के माध्यम से जीवों के माध्यम से भुक्वा भोगान थविष्ठान फूल जो भोग हैं जागृत के भोग भोगांत अभिष्टान पुनरअपि देशोद भाषितान कामजन्यान फिर तेजस बनकर के स्वप्न के भोगों को भोगता है पहले विश्व बनकर भोगेगा जो ठूल भोग को भोगता है जीवात्मा उस काल में उसका नाम होता है विश्व और सूक्ष्म भोग को भोगने लग जाएगा वासनामय भोगों भोगे तो तेजस नाम पड़ जाता है और अज्ञान विशिष्ट अवस्था में जब रहेगा तो उसका नाम पड़ जाएगा प्राज्ञा और सब कुछ समाप्त करके बैठेगा आपने स्वरूप रहेगा तो तुरीय वही आत्मा का परमात्मा का नाम है उपाधि विशेष से अलग अलग अपना स्वरूप से तुरीय है वो भोक्त भोगान थमिष्ठान पुनर्वित संपूर्ण स्थूल भोग को भोग करके जागृत का भोग का भोग कर उसके पश्चात फिर भी धीषणा उद्भाषितान बुद्धि में ही दिखने वाले भोग है वो उद्भव होने वाले वास्तु वस्तु नहीं होते वस्तु नहीं होते स्वप्नकालीन वस्तु वस्तु नहीं होते भीषण उद्भाषितम मान बुद्धि में ही वो उद्भाषित है भाषते हैं ऐसा कामजन्यान वासनाजन्य है वो पूर्वभुक्त भोगों का संस्कार है संस्कार जन्य भोग है उसको भी भोग करके तेजस बन करके भोगना है फिर पित्वा सर्वान विशेषान जो सुसुप्ति में पहुंच जाता है परमात्मा क्या होगा संपूर्ण विशेषों को पी जाता है अपने में लीन कर जाता है वहां पर न जागृत के भोग है न स्वप्न के भोग है न स्थिर है न चर है थावर जंगम संपूर्ण लय हो गया जागृत के भोग स्वप्न भोग संपूर्ण अपने में पी करके लय करके अज्ञान विशिष्ट स्वरूप में शुद्ध स्वरूप में तो ये लय लय कुछ नहीं है किंतु अज्ञान विशिष्ट स्वरूप में सबको लीन करके जागृत का भोग स्वप्न का भोग सबको लीन करके मधुर भुख आनंद का भोक्ता बन जाता उस काल में आनंद भुक मधुर भुक बने आनंद भुक आनंदम भुगते थे आनंद भुक आनंद का भोग करता है सुख का अनुभव करने वाला हो जाता है वो परमात्मा सुसुप्ति में किंतु माया भोजयन स्वयं भोग नहीं करता वो भोजयिता बन जाता भोज माने भोग देने वाला हो जाता है माया के द्वारा स्वतः नहीं माया के कारण तत्त उपाधि शरीर आदि उपाधि इस उपाधि के कारण जीवत्व आ गया तो न हमारे अस्मभ्यम भोजयत हम लोगों को भोग कराता हुआ जीवों को भोग कराता हुआ माया के द्वारा स्वतः जीवों का भी जीवी नहीं तो क्या भोग होगा माया के द्वारा नो माने अस्मभ्यम भोजयत हम लोगों को भोग कराता हुआ ऐसा रहता है ऐसा जो परमात्मा है माया संख्यम तुरीयम वो परमात्मा का नाम है तुरीय नाम शुद्ध स्वरूप का नाम तुरीय करके बोलते हैं क्यों तुरीय भी एक नाम है होना नहीं चाहिए किंतु तो माया के कारण नाम पड़ गया तीन जगह में माया है तो माया रहित होने पर तुरीय कहा जाता है इसलिए माया के द्वारा ही चतुर्थ संख्या है चतुर्थम मनते स आत्मा सब विज्ञ सप्तम मंत्र के आखिर में आएगा चतुर्थ कहते हैं चतुर्थ शब्द तुरीय शब्द एक ही अर्थ का बताता है चौथा चौथा बोलना है तो चतुर्थ तो माने चार नहीं चौथा चतवारा मैंने होता है चार संस्कृत में चतवारा मैंने चार चतुर्थ माने एक होता है हाँ। तस्य पूरे डट सूत्र हमने पढ़ा है पूरा करने वाले में तीन व्यक्ति है एक नहीं है जो पूरा करने आएगा उसको कहेंगे चौथा तो तस्य पूर्ण डट तो चार की जो पूर्ण करने वाला होगा उसको चतुर्थ बोला जाएगा डट प्रत्यय होता है पूर्णार्थ में डट प्रत्यय होता है द्वितीय तृतीय इत्यादि द्वितीय देश तीय लग जाता है वो अलग है तो डट प्रत्यय होगा डट को थुक का आगम हो जाता है चतुर्थ बनाने के लिए षट कटिपय कटिपय संतराम थुक ऐसा थुक का आगम हो जाता है चतुर्थ बनता है किंतु उसी में एक वार्तिक है तूर्य छयतव चतुर्थ छयतव आद्यक्षर लोपश्च ऐसे वार्तिक है तूर्य बनाने के लिए चत माने चतुर शब्द से छ प्रत्यय और यत प्रत्यय दो प्रत्यय होंगे दो शब्द बनते हैं हाँ, और आदि अक्षर का लोप भी होगा चतुर चतुर शब्द में आदि अक्षर है छ लोप भी हो जाएगा वहां बचेगा तुर आगे छ को ये हो जाता है आय ने इलिय प्रदर्शन प्रत्यादि नाम सूत्र है ये होगा तो बन जाएगा तुरीय और यद करेंगे जब तो तुरीय हो जाएगी तो चतुर्थ तुरीय तुरीय तीनों शब्दों का एक ही अर्थ होता है चौथा माया संख्यम तुरीयम माया के कारण ही प्राप्त संख्या है तुरीय संख्या वास्तव में तुरीयत्व तो धर्म भी नहीं आता धर्म गए जब माया के कारण जब तो तीन अवस्था बता दी पहले आत्मा माया के कारण से विश्व तेजस प्राग्ञ रूप में आ जाता है जैसे नाचने वाला एक नर्तक होता है जैसे जैसे नृत्य करना होगा उस प्रकार का पोषक पहनने से तब तक नाम भिन्न हो जाता है नाम भिन्न प्राप्त कर लेता है वही व्यक्ति कभी राम बन के बाहर हमारे दर्शकों के सामने आना कभी रावण बन के वही आता है भीतर जाने के बाद पोशाक बदल के आ जाता है तो नाम भिन्न हो जाता है व्यक्ति वही होता है यहाँ शुद्ध स्वरूप ही माया के कारण कभी विश्व नाम पड़ेगा कभी तेजस पड़ेगा कभी प्राज्ञ पड़ेगा और ये रहित अवस्था में पहले नाम दे रहे थे तो तुरिया नाम भी दे दिया माया संख्यम तुरीयम माया के द्वारा जो संख्या तुरीय संख्या है चतुर्थ संख्या प्राप्त करता है परम अमृतम पर, पर सब सर्वश्रेष्ठ है अमृत है अमर है वो कभी मरने वाला नहीं अजम अजन्मा है ऐसा जो यद ब्रह्म जो ऐसा ब्रह्म है ये प्रथमांतर तन्नतोष्मी द्वितियां तप मतोष्मी उस ब्रह्म को भी नमस्कार करता हूं ऐसे भाष्यकार ने कहा तत् जो है यद तत्व संबंध यद प्रथमांत है तद द्वितीयांत है उस ब्रह्म को भी नमस्कार करता हूं तो यह नमस्कारात्मक मंगलाचरण है भाष्यकार का इसकी व्याख्या टीका में स्वतः करने वाले हैं आनंद देवी एक एक शब्दों की व्याख्या करेंगे टीका टीका में देखें प्रज्ञान इत्यादि अच्छा एक टिप्पणी छूट गई थी प्रतिपन्नान मांडिकोपनिषद अर्थ आवश्यक करण परान अभी श्लोकान है ना ये जो श्लोकान मैंने वाटिकान अपी को भिन्न क्रम में लगा देना कहते हैं श्लोकान के आगे लगाना और अपी से क्या लेना उपनिषद को समुच्चय करना उपनिषद के ऊपर भी भाष्यकार लिखने वाले हैं खाली भारतीय के ऊपर ही नहीं ये टिप्पणीकार बोल रहे हैं इसका अपी शब्द उपनिषद में समुच्चय नदी ये जो अपी का अर्थ मैंने टीकाकार ने उपनिषद शब्द नहीं लिखा है इसलिए उपनिषद को समुच्चय करता है अति शब्द भिन्न क्रमेण जहां है वही नहीं रखना कहा रखना श्लोकान ये तो अगले संबद्ध माना श्लोकान के आगे संबद्ध रखता है वो और अपि का अर्थ होगा उपनिषद को भी व्याख्या करेंगे भाषिका खाली भारतीय कोई नहीं उपनिषद की भी व्याख्या करेंगे मंत्रों का भी व्याख्या भाष्यकार की ये अपि का अर्थ उपनिषद ऐसा उपनिषद ऐसा अर्थ करना ये कहा संशय करता है ये कहा तो ठीक है देखें इधर तत्र विधि मुखे न वस्तु प्रतिपादन इति प्रक्रिया प्रदर्शन दो प्रकार है वस्तु का प्रतिपादन करना दो प्रकार है ये अमुक व्यक्ति है नाम देकर के बोला जाता है एक ऐसा अथवा इस व्यक्ति को बताने के लिए बाकी सबको निषेध कर देंगे तो इस व्यक्ति को बोलने की आवश्यकता नहीं स्वतः ही व्यक्ति की सिद्धि हो जाएगी ये निषेध मुख तो इसमें कहते तत्र विधि मुखे न वस्तु प्रतिपादन प्रक्रिया प्रदर्शित विधि मुख के द्वारा आरोप मुख यहां विधि माने विधान करना परमात्मा निर्गुण है निष्क्रिय है फिर भी सारी सृष्टि बताना विश्व बनना तेजस बनना प्राज्ञ बनना ये सब दिखाना है यहाँ आरोप करना तभी तो आगे निषेध होगा अनंत प्रतिमा आदि के द्वारा निषेध तभी कर पाएंगे विधि मुख माने आरोपित रूप से वस्तु प्रतिपादन की शैली दो होती है विधिमुख और निषेधमुख विधिमुख ना वस्तु प्रतिपादन इति प्रक्रिया दर्शित ऐसी प्रक्रिया को दिखाते हैं विधिमुख से ये ये मंगलाचरण है कहना चाहते हैं आरोप अध्यारोप रूप से है कहना चाहते हैं दो और तीन की टिप्पणी विधिमुख है भावरूप धर्म पुरस्कार वस्तु प्रतिपादन विधिमुख ये विधिमुख का अर्थ यही है भावरूप धर्म जागृत स्वप्न सुसुप्ति आदि धर्म दिखाना है यहाँ आत्मा में भाव रूप धर्म का सामने करके वस्तु का प्रतिपादन करना उस आत्मा का प्रतिपादन करना उपाधि विशिष्ट दशा में प्रतिपादन करना यह है विधि को अभाव रूप धर्म पुरस्कार का तन निषेध मुखम और अभाव रूप धर्म को सामने करके बताने का नाम निषेध मुख है जो अगले मंत्र में उस ऐसा दिखाएंगे जो विश्वात्मा आदि मंत्र में निषेध मुख से चलेंगे दो मंगलाचरण है पहला मंत्र पहला मंगलाचरण है अध्यारोप और दूसरे में निषेध अपवाद ऐसा करके दो मंगलाचरण करने वाले भाषिका देता है अच्छा। <clears throat> तीन तो की टिप्पणी प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया यहां प्रथम मंत्र की होगी कहते अध्यारोप प्रक्रिया आरोप करना है उस निर्गुण निराकार तत्व में ये कहां से जागृत स्वप्न सुसुप्ति की चर्चा हाँ, ये कहां से आनी है आरोप आरोप कर अध्यारोप प्रक्रिया यही है टीका तो टीका में कहते हैं प्रक्रिया में ब्रह्म यत्न नतोष्मी जो ऐसा ब्रह्म है उसको मैं नमस्कार करता हूं पहले मंगलाचरण में जो अंतिम पाद है उसका अर्थ करने जा रहे हैं ब्रह्म यत्न नतोष्मी जो ब्रह्म ऐसा है उसको मैं नमस्कार करता हूं कैसा है तथा अस्मद अर्थ तदैत्य रूप स्मरण नमा टीकाकार ने कहा था कि इसमें अविधेय आदि का भी सूचित कर जाते हैं कहा था इसी मंगलाचरण के ब्यास से अविधेय ग्रंथ के संबंध आदि के बारे में विषय आदि के बारे में चर्चा माने अर्थ से बताएंगे कहा था उसको अर्थ करना चाह रहे हैं अस्मद अर्थ से तदैक्य रूप तदैक्य स्मरण रूपम नमन सूचय था ब्रह्मण तदर्थ से प्रत्येक तत्व सूचितम भोजयंडो ऐसा वहां नष्ट किया वहां अस्मद शब्द का अर्थ है माया बहुजयन हो अस्मद का बहुवचन चतुर्थ का बहुवचन का रूप है वो अस्मद अर्थस्य जो अस्मद शब्द वहां प्रयोग है नष्ट करके कहा हुआ है श्लोक में तदेक के स्मरण रूपम उस परमात्मा के ऐक्य रूप से स्मरण करना है परमात्मा जीवात्मा विभेद रूप नहीं तदेक के स्मरण नम मरण रूपम नयनम सूचित ऐसा सूचित करते हुए राशिकार ने क्या किया ब्रह्मण तदर्थ से और ब्रह्म है तत्पद का अर्थ तत्वशी में आया हुआ तत्पद का अर्थ होता है ब्रह्म उसका प्रत्यक्व सूचितम वो प्रत्यक्व तो ही आत्मा से भिन्न नहीं है सूचित किया है ये कहा इति तत्व अर्थयोर ऐक्यम विषयो ध्वनित यहां शब्द से न कहने पर भी तत्पदार्थ तुम पदार्थ का विषय एक विषय ऐक्य ये तत्व जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य इस ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय होगा ये सिद्ध कर दिया सूचित तत्व अर्थ हो जो तत्वशी में आया हुआ तत्पद का अर्थ तुम पद का अर्थ जो ऐक्य होता है उसी को यहाँ विषय विषय भूमिका विषय सूचित किया भाष्यकार शब्द से नहीं कहा विषय सूचित कहा चार नंबर की टिप्पणी सूचयता के ऊपर है ये तेरा न ते तत्प्रवण अस्मी इति अन्वयाभिप्राय दोनों प्राय यत्तम नतोस्मी करके नत सब नम नम धातु का प्रयोग किया हुआ है तो नमस्कार अपने से भिन्न के लिए होना चाहिए यत्तम नतोस्मी ऐसे मंगलाचरण है तो ये कहना चाहिए ये तेरे शब्द के द्वारा क्या हुआ कि नते तत्प्रवाह तत्शब्द के तरफ जाने वाला जो नमस्कार है वह तद अश्मी इति अन्वय अभिप्राय वही ब्रह्म मैं हूं ऐसा अभिप्राय है जो नमस्कार यत्तम नतोष्मी जो कहा वो जो ब्रह्म है नमस्कार के ब्रह्म उपाय है तो सूचित किया है ये यहां जानना चाहिए ये कहा अच्छा यद शब्द से प्रसिद्धार्थ अवधोतकत्व यत माने जो जो ऐसा ब्रह्म है उसको नमस्कार करता हूं कहा मंगलाचरण के आखिर में यत ब्रह्म यत उसमें यत शब्द है प्रसिद्ध अर्थ का द्योतक होता है ये यत शब्द द्योतकत्वाद वेदांत प्रसिद्धम यद ब्रह्म यहां पर ये होगा प्रसिद्ध का द्योतक होता है यद शब्द या यद शब्द से क्या लेना वेदांत में प्रसिद्ध जो ब्रह्म है वेदांत प्रसिद्धम यद ब्रह्म तम न नतोस्मृति संबंधे न उस ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूं ये बोल रहे भाष्यकार इसलिए मंगलाचरण अपनी श्रुतिया क्रिय थे मंगलाचरण भी श्रुति के द्वारा कर दिया गया मंगलाचरण भी हो गया नमस्कारात्मक मंगलाचरण हो गया है श्रुतिया क्रिय थे पांच की टिप्पणी श्रुतिया मैंने शब्द था शब्द से मंगलाचरण भी हो गया अच्छा क्रियते ब्रह्मणो अद्वितीयत्वाद जनन मरण भावात अमृतम अजम इतम परम अमृतम अजम ऐसा विशेषण लगाया ब्रह्म का भाष्यकार ने परम अमृतम अजम विशेषण क्यों तो कहते हैं कि ब्रह्मणो अद्वितीयत्वाद वो वो दूसरा नहीं है दूसरा होगा तो मृत्यु विकर्षित होगा किंतु अकेला ही हो अद्वितीयत्वाद न द्वितीय में अद्वितीय इसलिए कोई द्वितीय न हो जिसका वो अद्वितीय होता है ऐसा अद्वितीय होने से ही जनन मरण कारण भाव जब दूसरा होगा तो पैदा करने वाला हो सकता है या मरने मारने वाला ही हो सकता है जन्म मरण के कारण है द्वितीय और ब्रह्म अद्वितीय है तो जन्म मरण के कारण न होने से न जन्म है न मरण है दोनों का कारण न होने से अमृतम अजम इसलिए कहा अजन्मा है और अमर है कहा जन्म मरण के चक्कर वाला नहीं है जो द्वितीय होता है जन्म मरण के चक्कर वाला द्वितीय होने के कारण जन्म मरण नहीं इसलिए अजम अमृतम को शब्द बताया ये कहा जनन मरण प्रबंध से संसारत्वाद जनन मरण के जो प्रवाह है जन्मो मरो जन्मो मरो जन्मो मरो यही संसार है जनन मरण प्रबंध से प्रबंध प्रवाह जन्म मरण का जो प्रवाह धारा है जैसे रात से दिन दिन के बाद रात वैसे जन्म के बाद मरण मृत्यु के बाद जन्म धारा है प्रवाह है संसार तो अधिक संसार होता है अतिरिक्त संसार कुछ नहीं जन्म मरण के प्रवाह को ही संसार कहा जाता है संसार होने से तन निषेध है ना जन्म मरण के निषेध के द्वारा तयोर निषेध तन निषेध परम अजम अमृतम शब्द के द्वारा भाष्यकार ने कहा तन निषेध है ना स्वतो असंसारित्व दर्शेता अजम अमृतम शब्द के द्वारा ये दिखा दिया है कि स्वयं कैसा है वो आत्मा असंसारी है ये दिखाते हुए भाष्यकार ने संसार अनर्थ निवृत्ति यह प्रयोजन द्योतितम संसार रूपी अनर्थ की जो निवृत्ति है इस ग्रंथ का प्रयोजन होगा ये दिखाया ये ग्रंथ पढ़ने का मतलब संसार की निवृत्ति हो इसका प्रयोजन यही होगा ये कहा प्रयोजन द्वितीयम कहा यदि अद्वितीय स्वतो असंसारी ब्रह्म वेदांत प्रमाणकम तरी कथम अवस्था त्रय विशिष्टा जीवा भोक्तारोण ब्रूयते भोजयिता ईश्वर स्त्रीयते वह्यम च विषय जातम कथम लभ्यते तदेत अद्वैते विरुद्धते आशंक्य अभी एक शंका होगी समय हो गया है फिर करें ॐ भद्रम् कर्मेभिः श्रृणुयामदेवा भद्रम् पश्येमाक्षभिर्यथा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांशस्तनोभिर्दशेमदेवम् ॐ सन्ना